और जब आप उनके पास कोई निशानी ना लाएं तो वो कहते हैं तुमने क्यों नहीं मुंतखब कर लिया उसको आप कह दें मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही की जाती है ये तुम्हारे रब की जनाब से रोशन दलाइल हैं और उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो ईमान रखते हैं